थी और हमने बेईमानी छोड़ने को कह दिया तो सब लोग हमारा हुक्म मान के बेईमानी छोड़ देंगे जरा आज मोटी छोटी बात आपको सुनाता हुक्म देने से बेईमानी नहीं छूटती बोले कि हम ईमानदार हो जाएंगे तो सब ईमानदार हो जाएंगे तो कर लो संतोष है ना तुम ईमानदार हो जाओगे तो बेईमान लोग तुम्हारे घर में से सब चीज उठा ले जाएंगे तो तो तब ईमानदार होने के लिए मना करते हो क्या मना नहीं करते हैं जो बुनियादी चीज है उस पर नजर जाना जरूरी है ये बात आपको कहते हैं कि बुनियादी चीज छोड़ करके है कान पैदा हो तो सब सुधर जाएंगे कपड़ा मिले तो सब सुधर जाएंगे पैसा मिले तो सब सुधर जाएंगे ये बुनियादी जो अहंकार अज्ञान मूलक ये यदि अहम ममा इधम ममा है ना ये जिस भूल के कारण हो रहा है ये अपने को लोक सेवक लोग मानते हैं हम लोक सेवक हैं हम लोक सेवक हैं बोला लोक सेवक होने के लिए जगत के जड़ में जो समस्या है उसको समझान उसको सुलझाना पड़ता है तो स्वयं प्रकाशोपी बुद्धियादि विषय विच्छुरणात् कथंचित अस्मत विषय प्रत्ययो अस्मत् प्रत्यय विषयो अहंकारास्पदम जीवती च जंतुरीति चो क्षेत्रज्ञ च आख्यायते तो ये देह के साथ जो मैं मेरा है आप जांच कहाँ करते हैं आपको उदाहरण के लिए एक बात सुनाता हूँ आपकी जांच गलत है जो आप कर रहे हैं दुनिया के बारे में वो कैसे गलत है? एक आदमी ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि ये सृष्टि किस समय किस जगह पर किसने किस चीज से बनाई सवाल आपकी समझ में आ गया हाँ। यह सृष्टि किस समय किस जगह किस चीज से किसने कैसे बनाई है तो हमने कहा देखो पहले तो तुम ये तो खुद मान बैठते हो कि ये सृष्टि है ये पूछो पहले कि है कि नहीं है ये तो तुमने खुद मान लिया अच्छा फिर ये मान लिया कि ये है सो हुई है और खुद नहीं हुई है किसी ने बनाई है और इसके बनने के पहले स्थान भी था समय भी था और वस्तु भी थी इतनी मान्यता तो तुम अपने भीतर से ले आते हो और फिर हमसे पूछते हो कि कब कहा किसने किससे कैसे बनाई अरे पूछना हो तो शुरू से पूछो है ना बीच में क्यों पूछते हो है? पूछना हो तो शुरू से पूछो तो बोले महाराज हमको साफ साफ दिखता है तो ऐसे नहीं पूछेंगे तो बोले जहाँ तुम जिसमें तुम बैठ के पूछते हो वो सृष्टि है कि नहीं तुम जानना चाहते हो सृष्टि का रहस्य और सृष्टि के एक हिस्से को मैं मान करके एक देह को मैं मान करके तब सृष्टि की जांच करने चलते हो है? अपने देह की उत्पत्ति तो तुमने देखी नहीं सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे देख लोगे कुछ तो अक्कल होनी चाहिए ना अरे देश भी सृष्टि है काल भी सृष्टि है जिससे सृष्टि हुई वो भी सृष्टि है जैसे सृष्टि हुई वो भी सृष्टि है अगर किसी कोई सृष्टि का करता है तो वो भी सृष्टि है लो तो तुम तो देह में मैं करके देह में मैं करके बैठे और फिर पूछते हो कैसे बनी तो पहले अपनी परिशुद्धि कर लो अपनी परिशुद्धि कर लेने का अर्थ है कि हम कहा बैठ के देखेंगे तो अनंत को देख सकेंगे हम कहा बैठ के देखेंगे तो त्रिकाला बाधित सत्य को देख सकेंगे हम कहा बैठ के देखेंगे तो परिपूर्ण वस्तु को देख सकेंगे पहले इस बात पर विचार करो देह में मैं करके और तुम देखोगे परिपूर्ण को देह में मैं करके देखोगे अकाल को देह में मैं करके देखोगे अनंत को देह में मैं करके देखोगे स्वयं प्रकाश को नारायण तो ये जब देह में जो मैं है ना इसको जब काटोगे तो देखोगे कि जिसकी तुम जांच कर जिसको देखना चाहते हो है वो तुम ही हो ये इसकी इसकी विद्या ही इसकी विद्या ही बड़ी विलक्षण है तो अब देखो यही समझो जो अहम अहम अहम हो रहा है ना जिस देश में देश माने स्थान में जिस जगह में मैं मैं मैं फुर रहा है और जिस काल में मैं मैं मैं फुर रहा है और जिस रूप में मैं मैं मैं फुर रहा है, है? ये जो जिस देश में जिस काल में जिस रूप में ये मैं मैं फिर रहा उसी देश में स्वयं प्रकाश है कि नहीं उसी देश में उसी काल में स्वयं प्रकाश है कि नहीं उसी रूप में स्वयं प्रकाश है कि नहीं और ये जो मैं मैं फुर रहा है इसी में एक अखंड मैं है कि नहीं है हजार हजार मैं फुरता है इस हजार हजार मैं में एक मैं है कि नहीं एक बाध्यमान मैं और एक अबाध्यमान मैं एक वो मैं जो कटता जाता है और एक मैं जो मैं के कटने को भी देखता रहता है तो मैं के कटने को जो देख रहा है वो मैं कटता नहीं है असल में अखंड तत्व वो है जो कटते हुए मैं का अधिष्ठान है जो कटते हुए मैं का साक्षी है कटता हुआ मैं पापी मैं पुण्यात्मा मैं है और सुखी मैं दुखी मैं जाने आने वाला मैं है लाल मैं काला मैं गोरा मैं और ब्राह्मण मैं हिंदू मैं मनुष्य मैं जीव मैं ये जो कटते हुए मैं है ना इसी समय इसी जगह इसी रूप में बनता हुआ जो मैं है इस मैं को भी देखने वाला जो अखंड है है ना जो तत्व है नारद तो ये चिदात्मयी है हाँ। ये केवल अविचार के कारण अपने को खंड वस्तु के साथ है ना खंड के रूप में हाँ, मान लिया गया है तो ये विचार से तुरंत निवृत्त होता है हाँ। और एक बार ये निवृत्त हो जाए तो फिर आने वाला नहीं है फिर आने वाला नहीं है मैंने ऐसे समझो ऐसे एक महात्मा के पास हम गए पंडित थे सोलह सत्रह बरस की उम्र सोलह बरस सत्रह बरस की उम्र थी हम सोलह सत्रह बरस की उम्र में भी पंडित ही थे बोला आयता तो नहीं समझना क्या तो महात्मा से बातचीत हुई सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी अगर तुम्हारे मन में संसार भोगने की इच्छा हो तो जाओ भोग भाग्या है ना ऐसे और रही बात संसार से छुड़ाने की तो तो ये संसार है मिथ्या मिथ्या से छुड़ाने में अगर रस्सी किसी के पाँव में लिपटी हो और वो समझ रहा हो कि सांप लिपट गया है और काट लेगा और मर जाएंगे तो उस सांप से उसको बचाने में क्या लगेगा अरे चुटकी बजा देंगे और निकल बच जाएगा मिथ्या से बचाने में क्या लगता है क्योंकि सांप तो असली है ही नहीं है है ना तो अगर तुम्हें संसार का कुछ राग भोग करना हो तो कर करा क्या है ना और न करना हो तो एक बार चुटकी बजाएंगे और दुनिया छूट जाएगी ऐसा फिर सुना Thank शुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण तमंगल ब्रह्मतन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वात् ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः कार्य कारण संघाते न ग्रथितो लब्ध भोग शक्ति स्वयं प्रकाशोपी बुद्धियादि विषय विस्फुरणात् कथंचिदस्मत् प्रत्यय विषयो अहंकारास्पदम की च जंतुरी च क्षेत्रज्ञ च आख्यायते न खलु जीवस्दात्मनो भिद्यते तथा च श्रुति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य तस्मात् चिरात्मनो व्यतिरेका जीव स्वयं की अहम प्रत्येन कर्तृभोक्तृतया व्यवहार योग्य क्रियते अहम प्रत्ययालंबनम उच्यते इस बात पर विचार करें कि कौन सी वस्तु आती और जाती रहती है और कौन सी वस्तु लगातार हमेशा रहती है तो माने सातत्य किस अनुभूति में है और आगमा आगमापायित्व किस अनुभूति में है इससे एक बहुत बढ़िया प्रश्न का समाधान मिल जाता है जब हम घड़े को जानते हैं तो घड़ा सामने आने से जानना उत्पन्न होता है कि जानना पहले से रहता है और घड़ा सामने आता है तो दिख जाता है ये बात केवल घड़े की ही नहीं है ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो मालूम पड़ता है ये होने से मालूम पड़ता है कि इनके न होने पर भी मालूम पड़ना रहता है माने हमको विशेष विशेष ज्ञान होते रहते हैं आप इस पर विचार करो अस्थि पावन मम इदम विदितम इति विशिष्टा भी जब हम देखते हैं तब हमारे हृदय में एक विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती रहती है, है? इसको मैंने जान लिया इसको मैंने जान लिया इसको मैंने जान लिया घड़े को मैंने जाना कपड़े को मैंने जाना मकान को मैंने जाना ऐसे समझो घड़ी को मेज को लाउड स्पीकर को पुस्तक को स्त्री को पुरुष को मैंने जाना तो बुद्धि जो है वो विशिष्ट विशिष्ट आकार को ग्रहण करती रहती है ये स्त्री है ये पुरुष है ये घड़ी है ये मेज है तो इस विशिष्ट आकार से बुद्धि उत्पन्न होती है कि बुद्धि पहले से मौजूद रहती है और उसमें ये विशिष्ट विशिष्ट आकार बनते हैं जैसे हवा लगती है द्वारा है ना धक्के से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं गंगा जी में लहरें पैदा होती हैं तो लहरें पैदा होने से जल होता है कि जल पहले से होता है और उसमें लहरें उत्पन्न होते हैं तो ये ज्ञान में जो विशेष विशेष लहरें पैदा होती हैं घटाकार मथाकार पटाकार इनमें ज्ञान क्या विकारी है इनमें ज्ञान क्या अवकाश वाला है इनमें ज्ञान क्या कालिक है तो ये तो स्पष्ट ही मालूम पड़ता है कि हमको विशेष ज्ञान होता है रात्रि और दिन का ज्ञान होता है ये काल का ज्ञान हुआ तो क्या काल जो है वो ज्ञान उत्पन्न करता है कि ज्ञान है ना कि ज्ञान काल को देखता है ये देख अच्छा पूर्व पश्चिम तो मालूम पड़ता है बाहर और भीतर शरीर के मालूम पड़ता है तो क्या बाहर भीतर हमारे बाह्याकार और अंतराकार ज्ञान को उत्पन्न करता है तो ज्ञान पहले से होता है उसमें बाह्याकार आता और जाता है उसमें पौरस्त्य और पाश्चात्य आकार आते और जाते हैं तो पौरस्य पाश्चात्य आकार तो पूर्व और पश्चिम की शकल मालूम पड़ती है मिट जाती है उत्तर दक्षिण की मालूम पड़ती है और मिट जाती है बाहर भीतर की शक्ल मालूम पड़ती है और मिट जाती है तो उस शक्ल के मिट जाने के साथ क्या ज्ञान भी मिट जाता है इस बात पर विचार करना तो विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान होते तो रहते हैं ये बात तो ठीक है परंतु ज्ञान का जन्म जो है प्रत्यय का जन्म होता है और प्रत्यय की मृत्यु होती है लहर उठती है और लहर मिटती है ये ज्ञान की तरंग का नाम प्रत्यय है और उसमें जो सूरज की रोशनी से रंग पड़ते हैं समझो है? सूरज की रोशनी ज्ञान एक अनंत महासमुद्र है और उसमें विषय के निमित्त से जो तरंग उत्पन्न होते हैं विषय संस्कार पूर्व पूर्व संस्कार अनाज संस्कार अविद्यामूलक संस्कार अनिर्वचनीय संस्कार इसके जो तरह तरह के प्रत्यय तरह तरह के प्रत्यय उठते हैं तरंग उठते हैं और उनमें जो रंगीनी है वो तो विषय भेद विषय भेद के कारण तो उनमें पृथकत्व है और उत्थान है पूर्व पूर्व संस्कार के कारण और ज्ञान अनंत मई अनंत महाम अनंता विश्व वीत उद्यंती घृणंती खेलंती प्रविशंति स्वभावतः मई अनंत महाम मुझ अनंत ज्ञान रूप महासमुद्र में अनंत विश्व की तरंगें उठती हैं उद्यंती घृणंती आपस में टकराती हैं खेलंती लीला करती हैं और प्रविशंति स्वभावतः और प्रविष्ट हो जाती हैं और ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये कैसा अदृश्य अनात्मे अनिरुक्त अनिलयने अभयम प्रतिष्ठान विबिंदते देखो हमारी तैतरीय श्रुति तैतरीय श्रुति क्या आनंद से प्रतिपादन कर रही है जो देव्येशो एकस्मिन अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा बिंदते नारायण ये श्रुति कोई संसार को देख करके नहीं लिखी गई है बोला आप बिल्कुल स्पष्ट यदि आप तत्व ज्ञान के संबंध में किंचित भी न बुद्धि को अनुभवारूढ़ करते हैं तो आप ये बात समझेंगे कि ये श्रुति विषय का अनुभव करके नहीं लिखी गई है एक अस्मिन अदृश्य पहले विषय को काट दिया ये वस्तु आत्म वस्तु जो है वो दृश्य नहीं है संवेद्य नहीं है अदृश्य अच्छा जी ये तो ठीक सामने का तो काट दिया दृश्य नहीं है तो इसके भीतर कोई और इसका आत्मा होगा तो बोले कि नहीं इसकी दूसरी कोई आत्मा नहीं है अनात्मा न इसके कोई बाहर है न इसके कोई भीतर है बिना देश संस्कार के बुद्धि बाज और भीतर की कल्पना नहीं करते ये तो बाज और भीतर का संस्कार तो देहाभिमान मूलक है तो असंवेद्य असंवेद्य अदृश्य से अदृश्य से प्रत्यक्ष को काटा और अनात्मी से अनात्मी से परोक्ष आत्मा के अस्तित्व को काटा अनात्मे अच्छा तो फिर बताओ ये कैसा है तो बाह्य और अंतरंग के भावाभाव से उपलक्षित बांग मनसा गोचर अनिर्वचनीय है अनिरुक्ते अनिरुक्ते का अर्थ हुआ निर्वचन नहीं कर सकते तो बोले तब अज्ञात है कि नहीं अज्ञात नहीं है अनिरुक्त शब्द का अर्थ अनिर्वच है ना अज्ञात नहीं होता अपरोक्ष होता है बोला हाँ। स्वयं उसका अर्थ होता है स्वयं तो सत्य है कि असत्य है बोले सत्य है कि असत्य है ये बात दूसरे के बारे में होती है ये नियम लिख लो बोला ये सत्य है कि असत्य है ये प्रश्न हमेशा दूसरे के बारे में उठेगा मैं सत्य हूँ कि असत्य हूँ ये प्रश्न आपको कभी उठ ही नहीं सकते क्योंकि मैं सत्य हूँ कि असत्य हूँ ये प्रश्न जिस प्रत्यय में जिस वृत्ति में उठ रहा है उसके साक्षी के रूप में आप स्वयं सिद्ध हैं तो आत्मा अनिर्वचनीय है परंतु ऐसा नहीं कि सत्य कहें कि असत्य कहें ऐसा अनिर्वचनीय नहीं है जगत सत्य है कि असत्य है है ना ये कहना नहीं बनता तो जगत की अनिर्वचनीयता ऐसी है कि सत्य कहो तो अनुभव में नहीं है ब्रह्म में नहीं है और असत्य कहो तो दिख रहा है असत्य कैसे बोले परंतु अपने आत्मा के बारे में मैं सत्य हूँ कि असत्य हूँ ये प्रश्न कभी नहीं उठता मैं हूँ ये मान करके ही इसको स्वतः सिद्ध करके ही सारे प्रश्न और सारे उत्तर होते हैं सारे प्रश्न और सारे उत्तरों की प्रवृत्ति आत्म सत्य को स्वतः सिद्धवत कृत्य पहले सिद्ध मान करके तब प्रश्न उत्तर का व्यवहार होता है इसलिए आत्मा की अनिर्वचनीयता वैसी नहीं है जैसी जगत से तब आत्मा की अनिर्वचनीयता कैसी है तो दान मनसा हुआ अपने होने में कोई संदेह नहीं है न कश्चित संदिग्धे अहम अस्मिदा नास्मिदा कभी किसी को ये संदेह नहीं होता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ नहीं कश्चित प्रतिया नाम हम थे कभी किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं हो सकता मैं वीर की नहीं हूँ ये संदेह तो नहीं हो सकता ये नहीं है ऐसा हो सकता है और हमारी सिद्धि नहीं हो रही है तो ये जो विशिष्ट बुद्धि है देखो ये मालूम होता है विशिष्ट बुद्धि हाँ, मठ विशिष्ट बुद्धि एक विशेषण को लेकर के हमारी बुद्धि जो है वो हमारी बुद्धि काम करती है तो मालूम पड़ता है हमने घड़े को जाना हमने कपड़े को जाना घड़ा बदल गया कपड़ा बदल गया घटाकार वृत्ति बदल गई घटाकार वृत्ति बदल गई तो रह कौन गया जिसने दोनों को देखा घड़े को भी देखा घटाकार वृत्ति को भी देखा और कपड़े को भी देखा और पटाकार वृत्ति को भी देखा जिसने विषय और प्रत्यय दोनों का दर्शन किया वो रह गया एक चौथी बात आत्मा के बारे में जो बताई गई आप ध्यान देना अनिलयने अदृश्य घट नहीं है अनात्मे आत्मा का आत्मा कोई दूसरा नहीं है अनात्मी अनिरूपते निर्वचनीय नहीं है तो बोले अनिलय इस आत्मा का कभी लय नहीं होता कार्य का ही लय होता है और कारण का ही उदय होता है कारण कार्य के रूप में उदय होता है और कार्य कारण में लीन होता है कार्य नाशवान है उत्पत्ति और नाश वाला है और कारण परिवर्तनशील है विकारी है परंतु जो आत्मा विकार और विकारी का साक्षी है जो आत्मा बदलते हुए प्रत्ययों का साक्षी है बदलते हुए विषयों का साक्षी है वो आत्मा विषय से उत्पन्न विषय से उत्पन्न या विषय दर्शन से उत्पन्न ज्ञान नहीं है बल्कि विषय और विषयाकार वृत्ति दोनों का अधिष्ठान अपरोक्ष अपना आता है तो इसलिए ऐसा कहना कि यदि विशेषण का दर्शन न हो तो आत्म सत्य नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है तो विषय का दर्शन नहीं हो तो मैं भी नहीं हूं तो ये बात बिल्कुल गलत है अच्छा और वृत्ति जो होती है आपको बताया वृत्ति ज्ञान में और स्वरूप ज्ञान में क्या अंतर है एक दिन आपको सुना तो आपके ध्यान में होगा जैसे घटाकार वृत्ति है मैंने ये किताब देखी और मन में किताब बैठ गई तो ये पहले नहीं थी इसका प्राग भाव है ये बाद में नहीं रहेगी ये वृत्ति पुस्तकाकार वृत्ति पुस्तकाकार वृत्ति पहले नहीं थी मान इसका प्राग भाव है और बाद में नहीं रहेगी इसका भाव है और पुस्तकाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति नहीं है इसलिए भाव है है ना और जहाँ पुस्तकाकार वृद्धि हो रही है उसमें न पुस्तक है न पुस्तक का आकार है ये अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही उदय हो रही है तो सविषय है शास्त्र है अनेक है नासवती है इसलिए स्वरूप ज्ञान में स्वरूप ज्ञान में इस वृत्ति ज्ञान का कोई महत्व कोई महत्व नहीं है अब आप देखो कि इसी वृत्ति ज्ञान के साथ हम अपने को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं मुख्य जो सोच है वो ये है कि जैसे एक बार घड़ा मालूम पड़ता है और एक बार कपड़ा वैसे एक बार सुख मालूम पड़ता है और एक बार दुख तो ये है कट जाने वाली वृत्ति कट जाने वाली वृत्ति हम जरा हिंदी में बोल रहे हैं ये संस्कृत में परिच्छिन्न का अर्थ यही होता है परिच्छिन्न परी माने चारों ओर से छिन्न माने कटी हुई छेदन भेदन का विषय है ये वृत्ति कटी हुई है जैसे मैं सुखी हूं ये वृत्ति बनेगा तो ये जब बनी उसके पहले नहीं थी मैं सुखी हूँ ये वृत्ति बाद में नहीं रहेगी ये मैं दुखी हूँ इसके विरुद्ध है और आत्मा मतलब सुखी दुखी दोनों आकार में रहता है इसलिए दोनों से निराला है तो मैं सुखी हूँ ये वृत्ति प्राग भावक प्रतियोगिनी है है ना ये प्रध्वंसा भाववती है है ना ये हम दुखी इस वृत्ति के साथ इसका है ना अन्योन्या भाव अन्योन्या भाव है जब मैं दुखी हूँ तब मैं सुखी हूँ ये वृत्ति नहीं है अब देखो पहले न होना बाद में न होना दूसरा होना है ना इसका मिट जाना मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ इस ज्ञान में ये सारी चीजें लगी हुई हैं और तुम अपने को यही मानते हो तो क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब मैं दुखी हूँ ये वृत्ति उदय होगी अब प्रश्न ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये वृत्ति उदय होगी कि मैं दुखी हूँ होगी कि नहीं होगी है कोई माई का लाल ऐसा जो कहे कि अब हमारे है ना मैं दुखी हूँ ये वृत्ति हमारे अंतकरण में उदय नहीं होगी मैं दुखी हूँ के बाद मैं सुखी हूँ उदय होती है और मैं सुखी हूँ के बाद मैं दुखी हूँ उदय होती है तो इन दोनों में तुम दोनों हो कि दोनों में से एक हो है कि दोनों से न्यारे हो ये सवाल हुआ ना तो मैं सुखी हूँ ये भी अभ्यास है क्योंकि एक पहले न रहने वाली बाद में न रहने वाली अपने दुश्मन को रखने वाली स्वयं मिटने वाली है अनेक रूप ग्रहण करने वाली मरने वाली कटने वाली वृत्ति को जब तुमने अपने आप के साथ जोड़ लिया है, तो मैं सुखी हूँ ये झूठा अभिमान है हाँ, और मैं दुखी हूँ और हमको तो एक महात्मा ने बताया हो एक आदमी मर गया था तो मुझे दुख हुआ तो मैंने महात्मा को निवेदन किया कि अमुक व्यक्ति हमारे मर गए हमको दुख है तो बोले कि तुम छह महीना इसको पीछे छोड़ दो तुम ये मानो कि उस आदमी को मर तो मर तो गए ही है कल मरा की परसों मरा इसमें क्या तुम ये मान लो कि वो छह महीने पहले मर गया है कल नहीं मरा है आज नहीं मरा है छह महीने पहले मर गया है क्या आपको तो ध्यान में आता है क्या होगा इसका नतीजा हम ये कल्पना करके भी बैठ जाएं कि छह महीने पहले मरा है तो भूल जाए अच्छा तो मैं दुखी हूं ये आपका स्वरूप है क्या ये अध्यास है क्योंकि आप कल दुखी नहीं थे कल दुखी नहीं रहेंगे हैं? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो लगे ही हुआ है अरे अभी थोड़ी देर के बाद कोई दूसरी खबर आ जाएगी तो मुस्करा जाओगे है? तुम्हारे दुखी पने का दुश्मन सुखी पना बैठा हुआ है, है? अच्छा और तुम तो वही हो जो कल सुखी थे आज दुखी कैसे हो गए तो आज जो घटना विशेष के कारण वासना के कारण संस्कार के कारण है दुखी हूँ ये जो प्रत्यय उदय हुआ मैं दुखी हूँ ये प्रत्यय जो उदय हुआ उसके साथ तुमने अपने आप को मिला दिया तो भाई तो कहो तो मैं पापी हूँ मैं पापी अब उसका अपने को इस समय कर्ता मान करके मैं दुखी हूँ ऐसा तुम समझ रहे हो ये मैं दुख मैं करता हूं मैं पापी हूँ ऐसा समझ रहे हो अच्छा मैं पापी हूँ ये बुद्धि आगंतुक है कि स्वाभाविक है ये अभ्यास को अध्यास को समझने के लिए इस बात पर जोर दो है ना अच्छा तुम हिंदू हो तो पापी हो गए और मुसलमान होते तो इसमें पापी होते कि नहीं होते और अगर तुम मुसलमान होते है ना तो पापी और हिंदू होते तो पुण्यात्मा ये जो संप्रदाय मूलक वैसे तो हमारा ऐसा कहना है कि हिंदू धर्म के समाजविद पुरुषों ने हिंदू को संप्रदाय के रूप में नहीं रखा था है ना जन्म से ही हिंदू होते ऐसा हमारे समाज शास्त्र के देवताओं का विचार था कि हिंदू जन्म से होता है संप्रदाय वो होता है जो संस्कार से हो गए खतना कराने के बाद मुसलमान होता है बपतिस्मा होने के बाद ईसाई होता है पर हिंदू कोई संस्कार होने के बाद हो गए ऐसा नहीं इन लोगों ने स्वतः सिद्धता पर बड़ा जोर दिया था हो असल में मनुष्य जन्म से जो है वही है अब आगे चलो कि असल में मनुष्य स्वतः जो है वही है ये विकार और संस्कार दोनों का प्रभाव दोनों का प्रभाव नहीं है तो अब वो बात तो हम कोई सामाजिक समाज शास्त्र का निरूपण तो करना नहीं चाहते हैं आप देखो ये पापी पना भी संस्कार से उत्पन्न हुआ पुण्यात्मा पना भी संस्कार से उत्पन्न हुआ और ऐसा होने पर सुख होता है और ऐसा होने पर दुख होता है है ना ये जो मनुष्य के मन में संस्कार बैठा हुआ है पूर्व पूर्वानुभव से हाँ, हाँ। का उनके वे उनके चाचा मर गए थे तो वे बड़े दुखी हुए थे तो हमारे ताऊ मर गए तो हम भी दुखी होंगे तो ये अविद्या अनिर्वचनीय अविद्यामूलक पूर्व पूर्व संस्कार से अनुसृत जो वासना है उस वासना से जन्य सुखाकार वृत्ति के अभिमानी हो करके हम अपने को सुखी मानते हैं और तजन्य दुखाकार वृत्ति के अभिमानी होकर हम अपने को दुखी मानते हैं और पूर्व पूर्व वासना से अनुसृत पाप कर्म होने से हम अपने को पापी मानते हैं और तब तक वासना से अनुगत कर्म के होने पर हम अपने को पुण्यात्मा मानते हैं अच्छा ये पापी पना और ये पुण्यात्मा पना और ये सुखी बना और ये दुखी बना तुम्हारा सुसुप्ति में कहा जाता है हाँ। माने ये प्रत्यय रूप है इसका अभिप्राय हुआ कि ये प्रत्यय रूप है प्रत्यय रूप है माने वृत्ति रूप है इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखो यदि ये कहो कि सुसुप्ति भी वृत्ति है और हाँ। हमको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है सुसुप्ति भी अविद्या की वृत्ति है क्योंकि वहां भी जो जागृत और स्वप्न के अभाव का अनुभव होता है वो अभाव भी एक विशेष वृत्ति ही है ऐसा हमको मानने में क्या आ रहा है, है? तो जैसे मैं सुखी हूं ये वृत्ति आई और गई मैं दुखी हूँ ये वृत्ति आई और गई वैसे मैं सुसुप्त हुआ है ना ये वृत्ति भी आई और गई मैं सुसुप्त हूँ ये बात नहीं सुसुप्त से सौसुप्त तमो बोधो भवेत स्मृते सुप्तोत्थित सौसुप्त तमो बोधो भवेत स्मृति चित्तोत्थित जब सो करके उठते हैं तब स्मरण करते हैं कि हमको इतनी देर तक कुछ नहीं मालूम पड़ा अब मालूम पड़ता है इसका अर्थ है कि न मालूम पड़ना जो आया था तो चला गया तो मैं सोया ये गलत हुआ आप देखो अनुभव की प्रणाली में ये गलत हो है ना जो सोया था वो सुसुप्ति का स्मरण नहीं कर सकता और जो स्मरण करता है वो सोया नहीं था देखो अध्यास इसका नाम अध्यास है हमारे आपसे से ध्यान दो कि आपको एक जागृत अवस्था में जिसमें अपनी पत्नी पुत्र धन मकान सब भागता है व्यावहारिक रूप से है ना ये हुई आपकी जागृत अवस्था और जिसमें सब मानसिक रूप से भागता है वो हुई स्वप्न अवस्था परंतु एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें ये दोनों नहीं भागते हैं वो अवस्था आपको मालूम है कि नहीं है बताओ आप ही तो मालूम है कि कोई आके आपको समझा गया कि आप सोए हुए थे अच्छा जब आप सो सो के उठते हैं तो आके कोई समझाता है कि आप सोए हुए थे कि आप खुद ही कहते हैं कि भाई ऐसी नींद आई कि न उसमें जागृत का कुछ पता चला और न कोई सपना रहा दोनों से विलक्षण एक अवस्था हुई बोले करे वो कौन सी अवस्था थी भाई तब मैं सो गया था तब भले मानुष ऐसी बढ़िया सी अवस्था तुम देख के आए हो है? ये कैवल्य नहीं थी है ना यदि जब वो अवस्था कैवल्य नहीं थी तो कैवल्य शरीर की जरूर थी जैसे अंधेरा हो ना अपने पास पांच दस आदमी बैठे हों और ऐसा घुप अंधेरा हो जाए कि कोई न दिखाई पड़े तो बोले अजी मैंने ऐसा अंधेरा देखा है कि वहां पांच दस आदमी बैठे हैं इसका पता ही नहीं चला तो बाबा तुम तो अंधेरा देखने वाले तुम थे कि नहीं थे हम्म। तो उस समय कोई रोशनी नहीं थी कोई आदमी नहीं था कोई औरत नहीं थी अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था बोले कि नहीं दिख रहा था ये तुमको कैसे मालूम पड़ा बोले अरे भाई मैं खुली आंख से देख रहा था कि कुछ दिख जाए परंतु नहीं दिखा अच्छा खुली आंख से तुम देख रहे थे तो जाग तो रहे थे ना तुमने जागृत और स्वप्न की का अभाव देखा जागृत और स्वप्न का गुप्त प्रज्ञा का घनी भाव देखा बीजा अवस्था तुमने देखी तो आखिर तुम्हारा देखना तो कायम रहा ना इसका अर्थ हुआ की सोई बुद्धि प्रत्यय सो गए हो वृत्तियां सब की सब सो गए वृत्तियों का अभिमान भी सो गया लेकिन तुम टुकुर टुकुर देखते रहे देखो उस समय विषय भी नहीं था और वृत्तियां भी नहीं थी वृत्ति और विषय दोनों रहे तो जागृत और केवल वृत्ति ही विषय के रूप में मालूम करें विषय न हो तो स्व और वृत्ति और विषय दोनों न हो तो सुसुप्ति लेकिन दोनों का न होना देखता कौन है तो देखो जाग रहे थे तुम बिल्कुल जाग रहे थे अलुप्त बोध थे तुम अलुप्त दृष्ट थे अलुप्त बोध अलुप्त दृष्ट नहीं दृष्टुर्दृष्टेर भी परिलोको विद्यते अविनाशित्वा उस समय तुम्हारी दृष्टि का लोप नहीं हुआ था उस उस समय तुम्हारी दृष्टि से जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का घनी भाव दिख रहा था तुमको तो तुम सोए नहीं थे और जब वो वृत्तियां जग गई तब तुम कहते हो कि मैं सोया था तो सोई थी वृत्तियां और जागते थे तुम और जाग करके वृत्ति और मैं का जो विवेक है वो लुप्त हो गया और विवेक लुप्त हो जाने से क्या हुआ कि तुम जागते थे तो वृत्तियां कहने लगी कि हम जागती थी हमको स्मरण हो रहा है हम सोए थे देखा तुमने और याद बताती हैं वृत्तियां अपनी हैं और सोई थी वृत्तियां तो, तो तुम कहते हो कि मैं सोया था ये मैं वृत्तियों की सुसुप्ति और मैं का अनवलुप्त बोध इन दोनों का मिश्रण हुए बिना सुसुप्ति का स्मरण उत्पन्न नहीं हो सकता और अनवलुप्त बोधात्मा अपना स्वरूप ज्ञान जिसमें ज्ञान का बिल्कुल लोप नहीं हुआ था और अंधकार अंधकारात्मक विषय का प्रकाशन करने वाला आत्मदेव सुसुप्ति में जागृत था वहाँ माता नहीं थी वहाँ पिता नहीं था देखो श्रुति में ऐसे वर्णन तत्र माता माता भवती तत्र पिता पिता भवती तत्र देवा देवा भवंती वहाँ कोई देवता नहीं था तत्र वेदा अवेदा भवंती वेद भी नहीं थे वेद भी सो गए थे वेद भी सो गए थे देवता भी सो गए थे इष्ट देवता भी सो गए थे उपास्य देवता भी सो गए थे उपास्य देवता भी सो गए थे सब सो गए थे जागता था एक आत्मा अब ये अब जागता था आत्मा और तुम जाग के क्या बोलते हो बिल्कुल बदतो व्याघात बदतो व्याघात माने जैसे कोई कहे कि मेरे मुंह में जीव नहीं ये बोलना जैसे बिल्कुल गलत है वैसे मैं सो गया था ये बोलना बिल्कुल गलत है लेकिन जैसे कोई बहुत प्रेमी हो है ना बहुत प्रेमी हो ना तो, तो किसी के बच्चे ने हो है ना किसी की कोई चीज नष्ट कर दी बकरी मार दी अब जिसकी बकरी थी वो बड़ा नाराज हुआ वो जो बच्चे का बाप था ना वो जाके हाथ जोड़ के बोला कि हमसे गलती हो गई है ना बच्चे ने नहीं हमने मारा है ना बच्चे को बचाने के लिए खुद मारने वाले बन गए है ना बोल पत्नी मर जाए तो बोलते हाय हाय हम मर गए तो पत्नी के मरने को अपना मरना क्यों मानते हैं मोह के कारण ना मोह ही है ना इसी प्रकार वृत्तियों के शयन का अपने ऊपर आरोप क्यों करते हैं वृत्तियों से तादात्म्य होने के कारण और वृत्तियां आत्मा के दर्शन को आत्मा के अनुभव को अपने ऊपर क्यों लेती हैं यही अन्योन्याभ्यास इसी को बोलते हैं वो आत्मा का जागरण वृत्तियों में आ गया और वृत्तियों का शयन आत्मा में चला गया इसी का नाम इसी का नाम अन्य धर्म का अन्य धर्म पर अध्यारोप होता है तो अब ये देखो कि ये जितना भी साक्षात होगा जितना भी ये प्रत्यय होता है ऐसा देखो कि मैं पापी हूँ तो मैं पापी हूँ एक बार है एक बार नहीं है सुसुप्ति में तो बिल्कुल नहीं है मैं पुण्य आत्मा हूँ ये भी एक बार है एक बार नहीं है अच्छा तो वो क्या पापी मर गया जब आप अपने को पुण्य आत्मा समझते हो तो देखो एक कर्म करने से आपको ये हम हुआ ये अभिमान हुआ कि मैं पापी हूँ तो दूसरा कर्म करवाते हैं है ना गोदान करो व्रत करो दान करो प्रायश्चित करो और कहो कि अब मैं निष्पाप